अध्यायन्तु माङ्गानि वाक्काश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् कुछ विचार हुआ भाष्य पंक्ति पड़ी गई थी सप्तम खंड तक जिसमें पूर्व दिशा संबंधी मधु और दक्षिण दिशा संबंधी मधु की चर्चा हो गई थी पूर्व दिशा संबंधी मधु का भोग करने वक्त वसु लोग होते हैं अग्नि के मुख्य माध्यम से अग्नि के माध्यम से और दक्षिण दिशा संबंधी जो मधु है शुक्ल रूप मधु है उस मधु को होते हैं रुद्र लोग वरुण के मुख से भोग करते हैं पश्चिम दिशा संबंध जो मधु होगा कृष्ण रूप मधु होगा आदित्य लोग भोग करते हैं सोम के मुख से इत्यादि तो दो मधु की चर्चा हो गई है उसके भोग करने वाले देवता की भी चर्चा हो गई तो उपासक जो होगा उन्हीं देवताओं के साथ एक भोग करके उस मधु का मधु माने ज्ञान है आत्मज्ञान है प्राप्त करता है ये बोलती दिया आगे लिए बोलते हैं इतर अमृत अध्याय नाम फलानी निर्दिशती हम्म। दो अमृत उपासक के तो फल बता दिया पशु माने शुक्ल रूप और रोहित रूप वाले का बता दिया इतर अमृत अध्याय नाम फलानी निर्दिशती एक <clears throat> इतर अमृत अध्याय माने कौन है जो पश्चिम दिशा संबंधी उत्तर दिशा संबंधी और ऊर्ध दिशा संबंधी अमृत बाकी हैं उनके लिए कहा इधर अमृत का उपासक जो है उनके लिए फल का निर्देश करते हैं तथा करके भाष्य <clears throat> तस्ता पश्चात उत्तरता ऊर्धम उदयता विपर्यण अस्तमेता ये समझना जिस प्रकार पूर्व में उदय होकर के सविता पश्चिम में अस्त होता है दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में अस्त होता है उसी प्रकार पश्चात पश्चिम में उत्तर उदय होकर के विपरीत रूप से पूर्व में जाके अस्त होना है और उत्तरता उदयता उत्तर से उदय होकर के दक्षिण में अस्त होना है और ऊर्धम उदयता ऊर्धव में उदय होकर अधोभाग में अस्त होना है ये बाकी है ये ये कहा तथा पश्चात उत्तरता ऊर्धम उदयता ये इंदु माने सूर्य के उदय होने की जगह है पश्चिम से उत्तर से और ऊर्धव भाग से और विपरीत था तो उसके विपरीत क्रम होगा पश्चिम में उदय होगा तो पूर्व में अस्त होगा उत्तर में उदय होगा तो दक्षिण में अस्त होगा और ऊपर में उदय होगा तो अधोदेश में अस्त होगा यही यही कहना है ये कहा पूर्वस आगे शंका है आगे भाष्य में पूर्वस्मात पूर्वस्मात द्विगुणोत्तरो द्विगुणोत्तरोत्तरेणा कालेना इति अपौरण अपौरणम दर्शनम पूर्वादि की शंका आती है जो कहा जब तक पूर्व में उदय होता है आदित्य पश्चिम में अस्त होता है उसे दुगुना काल से दक्षिण में उदय होता है और उत्तर में अस्त होता है और जितने समय से दक्षिण में उदय होता है उत्तर में अस्त होता है उसे दुगुना काल से पश्चिम में उदय होना पूर्व में अस्त होना और जितने समय में पश्चिम में उदय और पूर्व में अस्त है उसे दुगुना काल से उत्तर में उदय होना दक्षिण में अस्त होना जो कहा ये पुराण संबंधी बात नहीं है विरुद्ध बात है ये सूर्य की गति एक समान है ये यहां पर शंका है पूर्वस्वाद पूर्वस्वाद पूर्व पूर्व की अपेक्षा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ये जो क्रम सूर्य को घूमना है सुमेरु पर्वत में घूमना है पूर्वस्वाद द्विगुण द्विगुण दुगुणोत्तरेण दुगुना दुगुना करके जो बताया गया वह काले नहीं थी अपौराणिक दर्शन जो पौराणिक दर्शन नहीं है पुराणों में ऐसा नहीं बताया ये शंका है सवितु चतुर्दिशा इंद्र यम वरुणा सोम पुरुषु उदयास्तमय काल से तुल्यत्व ही पौराणिक उत्तम पुराणों में ही कहा है पौराणिकों ने यह बताया है सविता का सूर्य का चतुर चारों दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं में चतुर्दिश दिशम चारों दिशाओं में कौन है चतुर्दिश कौन है इंद्र पूर्व दिशा यमा माने दक्षिण दिशा वरुणा माने पश्चिम सोम माने उत्तर दिशा इन पुरियों में <clears throat> इंद्रपुरी यमपुरी वरुणपुरी सोमपुरी इन पुरियों में उदयास्तमय काल से तुल्य तुम ही पौराणिक उत्तम उदय काल और अस्तकाल समान बताया है पुराणों में तो ऐसे आया है सूर्य ने घूमना है पहाड़ को घूमना है तो घूमते समय इधर अस्त होगा तो उधर उदय होगा इधर अस्त होगा उधर उदय समान है वो कहा ये दुगुना दुगुना काल से उदय और अस्त कहां से आ गई बात ये पौराणिक बातों से विरुद्ध है यह शंका है एक कहा पूर्वादि की शंका पूर्वस्मात पूर्वस्मात द्विगुण पूर्वोत्तरेण दो दो गुना उत्तर उत्तर करके जो पूर्व की अपेक्षा दक्षिण में दुगुना उत्तर और पश्चिम दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम में दुगुना और पश्चिम की अपेक्षा उत्तर में दुगुना जो बताया ये जो कहा ये पुराण दर्शन नहीं है ये पुराणों में ऐसा नहीं कहा सभी तो सविता का जो घूमना है सुमेरु पर्वत को घूमना है तो उसका चतुर्दिशा चारों दिशाओं में इंद्र यम वरुण सोमपुरी चार पुरी चार दिशाओं में पूर्व में इंद्रपुरी है अमरावती बोलते हैं पूर्व को और दक्षिण में समयमणिपुरी है यम, यमराज की पुरी है और पश्चिम में वरुण की पुरी है और उत्तर में कुबेर या सोम की पुरी है तो इन पुरियों में उदयास्तमय काल से तुल्य तुम्हें पौराणिक रूप पुराणों ने ही कहा है पौराणिक लोगों ने कहा है समान कहा है ये शंका है तो यहाँ सोमपुरी शुभ को एक नंबर टिप्पणी दिया सोम माने कुबेर चंद्र बक्ष भी टीका सोम शब्द का अर्थ कुबेर भी हो सकते हैं उत्तर दिशा के अधिपति है अधिपति है अथवा चंद्रमा हो सकता है सोम का टीका कृत ऐसे बताएंगे आगे चतुर्थ अध्याय के द्वादश खंड के प्रथम जो मंत्र आएगा उसके टीका में बताएंगे टीकाकार बताएंगे वहां उत्तर दिग अधिष्ठातुर अपी वहां वहां भी चंद्र शब्द आएगा चंद्र शब्द का अर्थ सोम हो सकता है अथवा उत्तर दिशा का अधिष्ठाता उत्तर दिशा का अधिष्ठाता कुबेर ऐसे टीकाकार बताएंगे ये कहा आगे और भी पूर्व पक्षी की शंका हो रही है मानसोत्तर से मूर्धनी शिरो प्रदक्षिणावृत्ति तुल्य मेरो हाँ? मानस से उत्तर मानसोत्तर से मूर्धनी एक मानस पहाड़ है एक सुमेरु पहाड़ है ये दोनों पहाड़ों के शीर पर मेरो ये दोनों के शीर में प्रदक्षिणावृत्ति तुल्यत्वाद सूर्य की जो प्रदक्षिणा वृत्ति है समान है तो ये कहाँ कम ज्यादा काल होगा सूर्य एक जगह बैठा रहेगा ज्यादा फिर और ज्यादा बैठेगा ऐसा तो होगा नहीं घूमने का परिक्रमा करने का समान है काल ये शंका है पूर्वादी की इसका उत्तर आगे देंगे <clears throat> सिद्धांति लोग उत्तर देंगे इसका किंतु अभी इसकी टीका है पूर्व पक्ष टीका आने वाली है <clears throat> टीका में कहते हैं विपरीण पुरस्ताद दक्षिण तो अधस्ताद इत्यर्थ हाँ, ये जो पश्चात उत्तरता ऊर्वम उदयता विपरीण अस्तमेता तो विपरीण मान विपरीत दृष्टि क्या है पुरस्ता जब पश्चिम उदय होगा तो पूर्व में अस्त होगा उत्तर में उदय होगा तो दक्षिण में अस्त होगा ऊपर में उदय होगा तो अधस्त नीचे अस्त होगा यही समझना विपरीत का ये अर्थ समझना कहा यथा पुरस्ताद उदयता पश्चात अस्तमेता जैसे पूर्व में उदय होना है सूर्य का पश्चिम अस्त होना है पश्चात अस्तमेता तथो दक्षिण तो द्विगुण दक्षिण दिशा से क्या होगा दुगुना काल दक्षिण है दक्षिण तो दक्षिण दिशा से द्विगुण काल में उदयता उत्तर अस्तमेता इति उत्तम इस सिद्धांत ने जो कहा इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप करने जा रहा है जैसे पूर्व में उदय होना सूर्य का और पश्चिम अस्त होना जितना समय लगा उसे दुगुना काल से दक्षिण में उदय होना और उत्तर में अस्त होना कहा ये उत्तम तथा उसी प्रकार तत्व द्विगुणों ने में पश्चात उदय फिर दक्षिण में जितने समय में उदय होना उत्तर में अस्त होना था उसे दुगुना काल से पश्चिम में उदय होना और पूर्व में अस्त होना कहा ये दूसरा तत्व द्विगुणे न दक्षिण से भी दुगुना रूप से काले न पश्चात उदय था पुरस्ता चस्त में था तावान आदित्यानंद भोग काल उतना आदित्यों का भोग काल है पश्चिम उदय होना पूर्व में अस्त होने समय आदित्य लोग भोग करेंगे तृतीय अमृत ध्यायी नाम अभी ताबा भोग काल जितना आदित्यों का भोग काल है तृतीय अमृत के जो उपासक हैं माने जो कृष्ण रूप का उपासक है उस उनके भी उतने भोग काल है जितने आदित्यों का है ये बताएगा तो तो द्विगुणों में काल ना यावत आदित्य उत्तर तो उदयता दक्षिण तो अष्टम था उसे भी पश्चिम से भी दुगुना काल से जितने समय से आदित्य उत्तर में उदय होता है दक्षिण में अस्त होता है एतावान मरुदान भोगकाल इतने समय मरुदों का भोग समय भोग का समय है यह है और चतुर्थ अमृत ध्यान चौथा अमृत है परम कृष्ण हम्म। अमृत है उसका ध्यान चिंतन करने वाले उपासकों को भी ताबाने भोग काल उसका भी उतना भोग काल होगा तो दो द्विगुण है फिर उससे भी दुगुना रूप से ऊपर में उदय होना और नीचे अस्त होना बताया गया तो द्विगुण में काल उर्गम उदयता अधस्तात अस्तमेता ऊपर में उदय होना सूर्य का नीचे अस्त होना कहा ये उदय अस्त है तावान साध्यान भोग काल उतना समय साध्यों का भोग काल है वो <clears throat> अच्छा पंचम अमृत चिंतक आराम अभी तावान है फिर पंचम अमृत चिंतन जो होगा उनका भी उतना ही होगा जो क्षोभते करके कहा था उसके लिए उतना भोग काल हो अच्छा। अब यहां पूर्वादि शंका करता है यद पूर्व पूर्व उदयास्तमय कालापेक्षा जैसे पूर्व पूर्व पूर्व की अपेक्षा दक्षिण में दुगुना काल है दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम में दुगुना है पश्चिम की अपेक्षा उत्तर में दुगुना काल उससे भी अपेक्षा ऊपर में दुगुना काल जो बताया गया ये पौराणिक वचन से विरुद्ध होता है पुराणों में ऐसा नहीं कहा ये यह शंका है यदि पूर्व पूर्व उदयास्तमय काल अपेक्षा पूर्व पूर्व उदय और पूर्व में उदय होना पश्चिम अस्त होना इससे दुगुना दक्षिण में उदय होना उत्तर में अस्त होना बताया गया ये जो काल है दुगुणे काल है ना उत्तर उत्तर उदय अस्तमय उत्तर उत्तर में घूम करके जो उदय और अस्त होना जो कहा इति उत्तम तत् पुराण विरुद्धम इति संगत तो पुराणों के साथ विरोध होता है पुराण में तो ऐसा नहीं कहा समान रूप से सूर्य की प्रतीक्षा होती कहा वहां पुराण विरुद्ध में संकत है एक पूर्वस्मात पूर्वस्मात भाष्य में कहा पूर्व पूर्व की अपेक्षा पूर्व पहला पूर्व हो गया पूर्व दिशा उसका अपेक्षा दूसरा पूर्व होगा दक्षिण फिर तीसरा होगा पश्चिम फिर होगा उत्तर इत्यादि इनकी अपेक्षा द्विगुणोत्तर उत्तरेण उत्तर उत्तर दुगुना दुगुना करके काले नीति अपौराणम दर्शन ये पुराण दर्शन नहीं ये कहा कैसे तो आगे फिर शंका है सिद्धांत की ओर से शंका करे कि कथम श्रुति उक्त से अर्थ से पुराण विरुद्ध जब श्रुति ने बोल दिया उसमें पुराण के विरोध क्या कैसे कहेंगे वहां पुराण को त्याग देना पड़ेगा जब श्रुति के साथ विरोध होता हो तो स्मृति को त्याग दिया जाता है तो प्रथम श्रुति उक्त अर्थ से पुराण विरुद्धता सिद्धांत की ओर से कहा श्रुति के द्वारा कहा गया विषय में पुराण के विरुद्ध कैसे कहो रहे हो ये शंका उठाई सिद्धांत वो बोलता है तर्क देता है अरे श्रुति कुछ भी बोले सवितु चतुर्दिशम इंद्र यम वरुणा सोम पुरुष जो चार पुरिया हैं पूर्व में इंद्रपुरी अमरावती दक्षिण में यमपुरी पश्चिम में वरुण की राजधानी और उत्तर में है कुबेर की पुरी राजधानी है ये चारों पुरियों में उदयास्तमय काल से तुल्यत्म ही पौराणिक रूपतम पुराणों ने यही कहा है पौराणिक लोगों ने चारों दिशाओं में समान रूप से सूर्य की प्रदक्षिणा होती है ठीक है कहते हैं उक्तम एवं संक्षिपति इसी को संक्षेप करके बोलता है पूर्वादि जो कहा था मानस उत्तर से मूर्धनी हो प्रदक्षिणा प्रत्यक्ष तुल्य मानस एक पर्वत का नाम यहां और मेरु भी एक पर्वत का नाम है ये दोनों पर्वतों का क्या होता है प्रदक्षिणावृत्ति तुल्यत्वाद सूर्य की प्रदक्षिणावृत्ति समान है समान रूप से घूमना है सूर्य ने तो कहा एक जगह ज्यादा फिर उसके उधर ज्यादा फिर ज्यादा कैसे होगा ये शंका टीका में कहते हैं महागिरेर मेरु प्रकारवध परितस्थित मूर्धनी जो महागिरी है बहुत बड़ा पहाड़ है मेरु सुमेरु जो सुमेरु कहते हैं जिसको महागिरेर मेरु महान पहाड़ है बहुत बड़ा पहाड़ है इस पृथ्वी में प्राकारवत परिता स्थित से एक छत के समान ऊपर में ऐसा फैला हुआ है परिता स्थित मूर्धनी उसके शीर में संलग्न चक्राक्षस्य सूर्य के रथ के चक्र वहां पर लगता है सुमेरु पर्वत के ऊपर भाव में घूमना है सूर्य में वहां घूमना है तो संलग्न रथ चक्राक्षस्य सवितु ऐसे सविता का कैसा है जिसके रथ के चक्र का अग्रभाग जिसमें लगा हुआ है कहा सुमेरु पर्वत के ऊपर के जो वो है प्रकार प्राकार है छत जैसा बना हुआ ऊपर फैला हुआ है उसमें सूर्य के रथ के चक्र लगा हुआ है ऐसे सूर्य का मेरो प्रदक्षिणावृत्ति तुल्यता वो सूर्य का ऐसे सूर्य का मेरु का जो प्रदक्षिणावृत्ति समान है हम्म, दक्षिणा दक्षिणावृत्ति जो प्रदक्षिणा समान है कालाधिक के कारणाभाव चाह पूर्व की अपेक्षा दक्षिण में दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम में पश्चिम में उत्तर में काल के अधिक होने में कुछ है ही नहीं कारण है ही नहीं कोई कारण भाव अच्छा सतश्रीषु अपनी पुरुषु चारों पुरियों में चाहे इंद्रपुरी हो चाहे यमपुरी हो चाहे वरुणपुरी हो चाहे कुबेरपुरी हो चारों पुरियों में उदयास्त मैं काल से तुल्यता हूं उदय काल और अष्टकाल समान है उक्तम भी विष्णु पुराण है ये बात विष्णु पुराण में कहा हुआ है क्या कहा है शक्रादीनाम पुरे तिष्ठन पृषत्ते विकर्ण विकर्णौ विकर्णस्थ त्रिकोणान द्वे पुरे तथा ऐसा कहा विष्णु पुराण में कहा है शक्रादी नाम जो इंद्रादी पुरी हैं चार पुरी हैं अमरावती शक्र माने इंद्र अमरावती पुरी दूसरा संयमनीपुरी यमपुरी तीसरा है वरुणपुरी चौथा है कुबेरपुरी ये चार पुरिया चार दिशाओं में अच्छा शक्रादि नाम पूरे जो इंद्रादि की पूर पूरी है सहार है जो इंद्र का पूर हाँ, यम का पूर वरुण का पूर कुबेर का पूर चार है ये शक्रादि नाम पूरे तिष्टन शक्रादि पूर्व में रहते हुए पृषद तेज पुरत्र सविता जहां जिस पूर्व में रहता है जैसे तीन पूर्व को छूता है एक काल में कहा कहा जैसे सूर्य पूर्व दिशा में है अमरावती पुरी में अभी बैठा मध्यान्ह हो रहा है तो उत्तर में भी छूता है और दक्षिण में भी छूता है क्या होता है वहां उस मध्यान्ह में आए तो उत्तर में तो होगा सायंकाल का समय होगा और इधर दक्षिण में होगा मध्यान्ह उदय काल का समय होगा या उदय काल होगा यहाँ ऐसी स्थिति में रहेगा ये बताना चाहते हैं सकरादि नाम पूरे तिष्ठन पृषति ऐसे पूरा तीन पूर्व को छूता एक तो स्वयं वहां है ही है दो जिसको पहले छोड़ के आया हुआ उत्तर को भी उत्तरपुरी में भी है दक्षिण पूरी में भी है तीन पूरी को छूता है एक साथ सविता और विकर्ण लोग दो कोना को भी छुएगा ईशान और आग्नेय कोण को भी छुएगा सविता इतने में एक साथ में उसका पांच जगह में घम घूमता है वो तीन दिशा में है वो और दो कोने में है दो कोण में है जो पूर्व दिशा में होगा उत्तर दिशा में छोड़ता हुआ है दक्षिण दिशा पकड़ता हुआ है और यहाँ मध्यान्ह में है यहाँ पूर्व दिशा में मध्यान्ह में पड़ा हुआ है तो पूर्व दिशा में छोड़ते समय का है यहाँ पकड़ते समय का है दक्षिण और ये दो कोना हो जाएंगे ईशान और आदमी इसी प्रकार जब दक्षिण दिशा में सूर्य होगा तो पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा तीन को छुआ होगा पूर्व को छोड़ता हुआ होगा पश्चिम को पकड़ता हुआ होगा और उसमें मध्य में है अभी ऐसी स्थिति होगी और दो कोना होगा वहां आग्नेय और नैऋत्य इस तरह से ये कहा सक्रादि नाम पूरे तिष्ठन सक्रादि किसी भी पूर्व में रहता हुआ सूर्य चाहे इंद्र के पूर्व में हो चाहे यमपुरी में हो चाहे वरुणपुरी में हो चाहे कुबेरपुरी में हो पृषति एस पुरत्र एस आदित्य ये सूर्य तीन पूर्व को छूता एक साथ एक को छोड़ता हुआ में है एक को पकड़ता हुआ में एक को मध्यान्ह बना हुआ है <clears throat> अच्छा विकर्ण दो दो विकर्ण दो कोना को भी छुएगा जैसे पूर्व दिशा में होगा तो ईशान और आग्नेय को छुएगा दक्षिण दिशा में सूर्य होगा तो आग्नेय और नैत्य को छुएगा दो कोने को भी छुएगा कोण बोलते हैं इसको विकर्ण और जब विकर्ण में स्थित होगा जैसे आग्नेय कोण में सूर्य अभी स्थित हो पूर्व और दक्षिण के बीच में हो उस स्थिति में क्या करेगा तीन कोना को छोड़ेगा दो दिशा को छुएगा पूर्व दिशा दक्षिण दिशा और तीन कोना क्या होगा आग्ने में तो बैठा हुआ है ईशान को छोड़ रहा है नैत्य को पकड़ रहा है स्वयं एक में तो है ही है वो जब तो विकर्ण में होगा तो तीन कोणों को छूता है दो दिशा को एक साथ और जब दिशा में बैठा होगा तो तीन दिशा दो कोने को एक साथ पर होता है करके कहा एक कहा सक्रादि नाम पूरे तिष्टम सक्रादिपुर में रहता हुआ सविता प्रिषदी ऐसा सविता पूरा त्रयम प्रिषदी तीन पूर्व को एक साथ स्पर्श करता है विकर्ण दो और दो विकर्ण माने दो कोना कोण जिसको बोलते हैं उसको भी स्पर्श करता है और विकर्ण स्थल जब विकर्ण में स्थित होगा सूर्य माने कोने कोण में स्थित होगा तो उस स्थिति में तीन कोणाम दे पूरे तथा तीन कोणों को छुएगा दो पूर्व को छुएगा वहां ऐसा आ जाएगा और लाएंगे जो उत्तम गदे लिंग पुराण में भी इस बात को बताया है लिंग पुराण ने उसमें कहा ये इस बात को क्या कहा मानसो परिमायन्द्री प्राच्याम मेरो स्थित पुरी दक्षिणे भानुपुत्र वरुण से कहते देखो मानसो ऊपरी मानस एक पर्वत का नाम है उस पहाड़ के सुमेरु पर्वत के ऊपर मानस के ऊपर माहेन्द्री प्राच्याम उसके पूर्व दिशा में माने इन अमरावती पुरी है इंद्र की पुरी है माहेन्द्री महेंद्र संबंधी पुरी को माहेन्द्री कहा गया इंद्र संबंधी पुरी है पूर्व दिशा में है मेरो स्थितापुरी मेरू के हम्म, पूर्व पूर्व दिशा में वो पूरी पड़ती है दक्षिण भानुपुत्र से दक्षिण में सूर्य के पुत्र यमराज हम्म, यमराज की पुरी है समयनी पुरी है उसी सुमेरु के और वरुण से तो वारुणे और पश्चिम दिशा में वरुण की पुरी है ऐसा है वो सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में सौम्य सोम से विपुलातासु देवता स्थिता अमरावती सम्यमणि सुखा चैव्य विवाह क्रमात ऐसा <clears throat> सौम्य सोमस्य सौम्य होता है उत्तर दिशा वहां सोमस से मान कुबेर से कुबेर की पूरी है वहां विपुला ताशु देग ताशु विपुला दिग्देवता था उन पुरियों में बहुत सारे दिशा के देवता बैठे हैं चारों पुरियों में ताशु पुरीशु दिग्देवता विपुला स्थिता विपुला मैंने बहुधा बहुत प्रकार की दिग्देवता दिशा के देवताएं बैठे हुए हैं और उन पुरियों का नाम यह है कौन है अमरावती समयमणि सुखा चैवी विभाग क्रमा चार पुरियों का नाम ऐसे बताया है पुराण में लिंग पुराण में पूर्व दिशा की पुरी है इंद्र की पुरी अमरावती दक्षिण दिशा की पुरी है समयमणिपुरी यमराज की है वो और पश्चिम दिशा में जो वरुण की राजधानी को सुखा शब्द से बोलते हैं उसको और उत्तर दिशा में जो कुबेर की पुरी हो उसको कहा विवाह विवाह शब्द से कहा उस पुरी का नाम क्रम से ये पुरियों का नाम है अमरावती सम्यवनी सुखा चैवी विवाहक्रमात अमरावती पुरी सम्यवनी पुरी सुखापुरी विवाहपुरी चार दिशाओं में चार पुरिया ये क्रम से ऐसा बताया गया लिंग पुराण में आगे कहते हैं लोकपालो परिष्टात्तु सर्वतो दक्षिणा इन्हें काष्टाम गतस्य सूर्य से गतिरियाताम निबोधत लोकपालात्तु लोकपालो उपरिष्टात्तु उन पुरियों के ऊपर में लोकपाल बैठे हुए हैं चारों पुरी के ऊपर लोकपाल हैं या लोकपाल और उपरिष्टाप ऊपरी भाग में लोकपाल बैठे हुए हैं ठीक है तू अब यहाँ प्रसंग बदल रहे हैं अभी तो पुरियों का नाम था अब कहते हैं तू किंतु सर्वतो दक्षिणायन है जब सूर्य एकदम दक्षिण की तरफ हो जाते हैं दक्षिणायन में जाते हैं हर प्रकार से दक्षिणायन हो गए सूर्य सर्वतो दक्षिणायन काष्टाम गते से सूर्य जब दक्षिण के सीमा में पहुंच जाते हैं सूर्य उस स्थिति में क्या होता गति यामताम निबोधता सूर्य की जो गति होती उस गति को मेरे से समझो जब दक्षिण दिशा की तरफ सूर्य की गति होती है उस समय कैसी गति होती है सूर्य की वो गति के विषय में सुनो ये कहा सूर्य से काष्टाम गत से दक्षिण की तरफ में जो सीमा में गए हुए सूर्य का या गति जो गति है ताम निबोधक उस गति को मेरे से जानो ये कहा दक्षिणाम प्रक्रमेत भानु क्षिप्तेशु रिवधावती पुरातवो यदा भानु सप्रश्य भवती प्रभु कदे दक्षिणे प्रक्रमेत भानु जब दक्षिण दिशा में सूर्य चल पड़ते हैं दक्षिणाय में होते हैं तो छिपते सूर्य बधावती जैसे फेंका हुआ बाढ़ दौड़ता है उस प्रकार सूर्य की गति तेज हो जाती है जल्दी सूर्य छिप जाते हैं में होने पर जैसे फेंका हुआ छिपता ईशु छिपा फेंका हुआ जो बाण होता है जिस जिस गति से जाता है तीव्र गति से जाता है इसी प्रकार यहाँ भी सूर्य तीव्र गति से जाते हैं ये कहा दक्षिणाम प्रक्रमित भानु जब दक्षिण दिशा में जाते हैं सूर्य तो क्षिप्तेशु क्षिप्त ईशु फेंका हुआ बाण के समान इव धावती दौड़ता है सूर्य और पुरांतको यदा भानु सक्रश्य भवती प्रभु जब पूर्व दिशा में सूर्य पहुंचे हुए हैं घूम रहे सूर्य वहां उस स्थिति में तको यदा भानु जब पूर्व दिशा में सूर्य पहुंचे शक्र से भवती प्रभु इसमें इंद्र के मालिक हो जाते हैं स्वामी हो जाते हैं क्यों वहां इंद्र की राजधानी है वहां जब सूर्य पहुंच जाते हैं तो इंद्र के मालिक होते हैं सर्व ही साम्य मन ही सौरो दृष्ट थे दिजा अरे देखो जब पूर्व दिशा में मध्यान्ह हो रखा है जब शक्र के मान इंद्र के प्रभु बने हुए हैं सूर्य पूर्व दिशा में सूर्य पहुंचे हुए हैं मध्यान्ह है वहां उस स्थिति में क्या होगा पुरांत ये सर्व ही सामने में नहीं सौरय सौरो हृदय दृष्टते दिशा ये ब्राह्मण लोग ऐसा दिखाई पड़ता है समय मणिपुरी में रहने वालों के लिए उदय काल हो जाता वहां यहाँ मध्यान्ह हो रहा है पूर्व में तो दक्षिण दिशा में रहने वालों के लिए उदय काल हो जाता वहां यहाँ पूर्व मध्यान्ह के समय दक्षिण में ऐसा होता है ऐसा कहा सएव सुखवत्याम तू निशांतस्थ प्रदृश्यते वही सूर्य कैसा है वही सूर्य पूर्व में जो मध्यान्ह के समय में है दक्षिण में उदय के समय में है उसी काल में सुखा मन होता है आपका पश्चिम दिशा में क्या होता है स्तः आधा रात्रि हो जाती है वहां निशा का अंत होने जा रहा है ऐसा स्थिति आ जाती है निशांतस्थ प्रदर्शित कहा आधी रात के ऊपर चल रहा वहां वहां आगे जाकर उदय सूर्य उदय होने वाला है आगे ऐसा हो जाता है निशा का अंत निशा के अंतिम स्थिति में पहुंचा हुआ होगा वहां अस्तमेति यथा सूर्यो विभायाम विश्व विभु मया प्रोक्तो मरावत्याम यथासो बारी तस्कर अस्तमेती यथा सूर्यो विभायाम विश्व पूर्व में जब सूर्य है वो अस्तकाल में होगा कहाँ विभा माने उत्तर दिशा में पूर्व में मध्यान्ह है अस्तकाल होगा उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में उदय काल होगा और पश्चिम दिशा में आगे उदय होने की तैयारी में होगा ऐसी स्थिति होगी अष्टमी तीदा सूर्यो विभायाम विश्वद्रु जब विवाह में अस्त होगा सूर्य मया प्रोक्तो मरा व्यत्याम यथाशो तस्कर एक सैव सुखवत्याम थे प्रतिष्ठित अष्टमी तीदा सूर्य विवाह जो विवाह में अस्त होगा उस काल में विश्वद्रु कहा मया प्रोक्तो अमरावत्याम यथाशो बारित स्तर मैंने जो वहां कहा था कहा इसमें कहा था सूर्य जो पूर्व दिशा में इंद्र के प्रभु बन के बैठे हों उस काल में क्या होता है तो इसमें विवाह में अस्त का समय हो जाता है कहा मया प्रोक्तो अमरावत्याम यथाशो बाधित स्तर अस्त में यथा सूर्य उस काल में अस्त होगा उत्तर में अस्त होगा एक कहा बारित स्तर का अर्थ तो पानी को चोरी करने वाला बारी माने पानी उसको चोरी करने वाला है जब बारिश होती है नीचे धरती में पानी आते हैं सूर्य किरण के माध्यम से ऊपर ले जाते हैं इसलिए बारी तस्कर कहते हैं सूर्य का नाम बारी तस्कर तथा संयमने प्राप्य उसी प्रकार जैसे पूर्व दिशा में होते समय में स्थिति रही दक्षिण दिशा में उदय काल होना उत्तर दिशा में अस्तकाल हो जाना है ना और पश्चिम दिशा में रात्रि की अंतिम अवस्था होना ऐसी अवस्था में होता है सूर्य ठीक इसी प्रकार आगे बोलते हैं तथा संयम ने प्राप्त अब मध्यान्ह होगा दक्षिण दिशा में जब सूर्य पहुंचा होगा मध्यान्ह में बना होगा दक्षिण दिशा में समय में प्राप्त सुखाम चैव विभाम खग इसी प्रकार दक्षिण माने संयमनी को प्राप्त करके पश्चिम माने सुखा माने पश्चिम दिशा को प्राप्त करे विवाह माने उत्तर को प्राप्त करके इसी प्रकार समझना जब दक्षिण दिशा में सूर्य मध्यान्ह होगा पूर्व दिशा में अस्त का समय होगा और पश्चिम में उदय का समय होगा और उत्तर में होगा आगे माने उजाला होने का समय होगा रात्रि का अंत, समय होगा ऐसी थी वैसे पश्चिम में सूर्य जब मध्यान्ह होगा तो दक्षिण में अस्तकाल होगा उत्तर में उदय काल का समय आएगा पूर्व में आगे जाकर के उदय उजाला होने का समय आने लग जाएगा मान रात्रि के अंतिम समय आएगा ये समझना कहा यदा पराण्वाग्नेयाम पूर्वाण्डो नैरुते द्विजा और दूसरी बात आप कोण की बात कहते हैं जब आग्नेय में अपराह्न हो रखा हो माने दिन के बारह बजे के बाद का समय हो रखा हो अपराह्न आग्नेयाम पूर्वाण्डो नैरुते द्विजा वहां नैरुते में होगा पूर्वाण्ड होगा यहाँ अपराह्न बन गया माने यहाँ क्या होगा दक्षिण में मध्यान्ह है आग्नेय में अपराह्न होगा नैऋत्य में पूर्वान्न होगा वहां आगे उदय होने वाला है ऐसी स्थिति में जाएगा पूर्वान्न होगा कहा तदा तू अपररात्र वायु भागे सुधारुण ये कहते उस काल में वायु भाग माने वायु दिशा में क्या होगा भयंकर अर्धरात्रि होगी उस काल में ये कहा ऐशान्यम पूर्वरात्रस्तु गतिरेशा से सर्वतः ईशान भाग में पूर्वरात्रि होगी आगे होने का काल संध्या काल होगा वहां पूर्वरात्रि होगी ये समझना कहा इसके टीका भी बोलते हैं तथा तो उपरिष्टात अमरावत्या अमरावत्या तिष्ठन यही कहा अमरावती के ऊपर में जो सूर्य हो जाते हैं मध्यान्ह में है अमरावती पूर्व दिशा में है तो मध्यान्ह वहां मध्यान्ह है जब तत्र ईश कोण स्थान तो जिस कोण को छोड़ के सूर्य वहां पहुंचा है पूर्व दिशा में पहुंचा है किस कोण को छोड़ा ईशान को छोड़ा हुआ है ईश कोण स्थान लोग माने क्या होगा ईश कोण में रहने वाले लोगों के लिए ईशान कोण में जो बैठे थे उनके लिए तृतीय यामम तृतीय याम हो जाएगा तृतीय प्रहर हो जाएगा दिन का याम आग्नेय स्थान आद्याम अग्नि कोण स्थान में रहने वाले के लिए यहां पर मध्यान्ह है वहां पर आगे पूर्वान्न होने जा रहा है ये होगा अब साम्यमन्याम उदयम तो करोती सविता और इसमें दक्षिण दिशा में उदय उदय काल हो जाता है ये समय होता है सूर्य का एवं यदायाम में मध्यान्ह जब दक्षिण दिशा में यमपुरी में मध्यान्ह में सूर्य रहता है तदा ऐन्द्रिय अस्तमय पूर्व दिशा में तो हो जाएगा अस्तकाल हो जाएगा यहां मध्यान्ह तो वहां छोड़ने का समय है अस्तकाल होगा आग्नेय तृतीय आग्नेय में तृतीय दिन का अंतिम भाग हो जाएगा तृतीय माने अंतिम दिन का जो तीन तीन चार बजे का समय हो जाएगा नृतिकोण कोण प्रथमो यामा उदय दक्षिण के बाद में आने वाला पश्चिम की तरफ नैतिकरण है वहां पूर्व का समय आ जाएगा प्रथमयाम हो जाएगा इत्यादि बारुण उदय बारुण उदय वरुण पश्चिम में उदय काल होगा <clears throat> दक्षिण में मध्यान्ह है तो पश्चिम में उदय काल होगा ऐसा बनेगा यदा जब बारुण मध्यान्ह जब पश्चिम में मध्यान्ह हुआ सूर्य तदा याम में अस्तमय दक्षिण में अस्त के समय हो जाएगा जिसको छोड़ना उधर पहुंचना है अस्तमय निर्विकोणे तृतीय याम है कोण में अब तीसरा प्रहर दिन का तीसरा प्रहर हो जाएगा वायव्य प्रथम आमा और वायव्य में दिन का प्रथम भाग में पहुंच जाएगा शुरू होने वाला हो जाएगा वहां दिन शुरू होगा सौम्य उदय और उत्तर दिशा में उदय होगा उदय काल आएगा आगे यदाच सौम्य मध्यान्ह जब उत्तर दिशा में जाकर के सूर्य का मध्यान्ह समय होगा तदा बारुणे अस्तमय वरुण दिशा में अस्त होगा अस्त का समय आ जाएगा जो तो उस पश्चिम को छोड़ना वहां उदय वहां है तो यहाँ अस्त हो जाएगा अस्त में वायव्य तृतीया में वायव्य में हो जाएगा त्रिस्तरा प्रहर दिन गया हुआ होगा मैंने तीन चार बजे का समय होगा ईशान कोण है प्रथमो याम और यहाँ पर दिन का पूर्व हिस्सा शुरू हो जाएगा ईशान कोण में यहाँ मध्यान्ह है पूर्व में उदय हो गया तो यहाँ प्रथम याम हो जाएगा ईशान कोण में ये कहा इंद्रिय उदय हमारे पूर्व में उदय काल आएगा तथा आग्नेय कोणे वर्तमान जब आग्नेय कोण में होगा पूर्व और दक्षिण के बीच में सूर्य होगा उस काल में वह मध्यान्ह होगा वहां मध्य दिन है वहां यम इंद्रपुरी और आद्य तृतीय याम होगा यमपुरी में आद्य याम होगा और इंद्रपुर में हो जाएगा तृतीय याम माने पूर्व में दिन ढलता हुआ दिन होगा वहां निकलता हुआ दिन हो जाएगा नैत्य में और नृत्य ईशान कोण है उदयास्त है नैत्य में और ईशान कोण में उदय नैत्य में उदय काल होगा ईशान कोण में अस्तकाल होगा तो करोती एवं सर्वासु दीक्षु विदिक्षु सभी दिशाओं में कोणों में विदिशाओं में सभी में पौराणिक दर्शन है तद विरुद्धम माने पौराणिक दर्शन इस प्रकार है समान रूप से घूमने को कहा है सूर्य को इसका विरुद्ध यहां बोल रहे हैं कि पूर्व दिशा की अपेक्षा दक्षिण में दुगुना रूप से उदय होना दक्षिण के अपेक्षा पश्चिम में दुगुना रूप से उदय होना पुष्प के अपेक्षा और दुगुना और दुगुना जो बोला पांच पर्याय दुगुना दुगुना कहा ये विरुद्ध है वो श्रुति विरुद्धम इदम श्रुतिया उत्तम ये श्रुति ने जो कहा विरुद्ध है ऐसा पूर्वादि की शंका हो गई इसमें कुछ परिहार इसका खंडन करते हैं कुछ यद्यपि स्मृति के द्वारा जो कहा गया हो स्मृति के साथ स्मृति का विरोध आता हो तो स्मृति को त्याग दिया जाता है स्मृति के बाद को प्रामाणिक माना जाता है ऐसी स्थिति है फिर भी किसी प्रकार कुछ आचार्यों ने इसकी संगति लगाई है किस तरह संगति लगाई है बताना चाहते हैं स्मृति में विरोध क्यों नहीं आता संगति लगाई है कहा यद्यपि स्मृति विरोध है स्मृति अप्रमाण यद्यपि नियम यह है स्मृति का विरोध होता है तो स्मृति को अप्रमाण माना जाएगा क्यों स्मृति पौरुषे है और श्रुति अपौरुषे है श्रुति के साथ विरोध होता है तो स्मृति त्याग दिया जाता है स्मृति को उस स्मृति को माना नहीं जाता यद्यपि नियम यह है यद्यपि श्रुति विरोध है स्मृति अप्रमाण यद्यपि श्रुति का विरोध होने पर स्मृति अप्रमाण है पुराण स्मृति है तथा फिर भी यथा कथनचित विरोध परिहारम यथा किसी प्रकार से विरोध का परिहार भी किया है किन्होंने द्रव्याचार्य उत्तम द्रव्याचार्य में घुमा करके कहने वाले को द्रव्याचार्य बोलते हैं जैसे सीता प्राण में ऐसे हो जाता था कि ऐसा करके कहा घुमा तो बाप को घुमा करके लाना ऐसा करते हैं तो द्रविड़ाचार्य द्रविड़ाचार्य बोलते हैं द्राविड़ प्राणायाम बोलते हैं यही है द्रविड़ाचार्य उत्तम उपवाद उपवाद है द्रव्याचार्य जो कहा उसको सिद्ध करते माने स्मृति के साथ स्मृति के साथ विरोध नहीं है स्मृति का ये बोलना चाहते हैं यदि स्मृति विरोध कर रही स्मृति का किंतु फिर भी विरोध नहीं है ऐसा बोलना चाहते हैं कैसे वो दिखाते हैं भाष्य में कहा अत्र उक्त परिहार आचार्य ही शंकराचार्य कहते मैं नहीं कहता हूं आचार्य ही परिहार होता आचार्यों ने इसका परिहार कहा शंकराचार्य का शब्द है शंकराचार्य जब आचार्य बोलते हैं तो को और कोई बोल रहे हैं इस विषय में अत्र माने अस्मिन विषय परिहार आचार्य उक्त आचार्यों ने इसका खंडन किया है माने सम्मेलन किया है स्मृति का कोई विरोध नहीं आता स्मृति के साथ बोलना कहा अमरावती आदि नाम पुरीणाम द्विगुणोत्परोत्तरेण कालेन उद्वास अमरावती आदि पुरी में ये आचार्यों ने जो इसका निर्णय दिया है कैसे दिया है अमरावती आदि अमरावती समयमणि हम्म, और ये वरुणपुरी हाँ, और ये सौम्यपुरी कुबेरपुरी है चार पूरी है चार दिशा में चार पूरी है चार पूरी का अर्थ तो चार दिशा अमरावती आदि नाम पुरी राम जो अमरावती आदि पुरी है उनमें द्विगुणोत्तरो तरेराम राम उत्तर उत्तर में दुगुना दुगुना करके जो कहा श्रुति ने अच्छा। काले में उद्वास आचार्य कहते हैं वहां निवास होगा सूर्य का दुगुना दुगुना रूप से निवास होगा पूर्व की अपेक्षा दक्षिण में दुगुना रूप से निवास होगा और उसकी अपेक्षा पश्चिम में दुगुना होगा और उसकी अपेक्षा उत्तर में दुगुना होगा उसकी अपेक्षा ऊपर में दुगुना होगा दुगुना दुगुना काल होगा क्यों देखो सूर्य का उदय माने क्या है हमारे चक्षु के विषय बन जाना उदय होना है और हमारे चक्षु के विषय न बनना अस्त होना है वास्तव में सूर्य में ना उदय है ना अस्त है सूर्य में उदय अस्त कुछ भी नहीं है हमारे दृष्टिगोचर जब तक होता है हम उदय मानते हैं और हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता तो अस्त मानते हैं ये हमारी मान्यता के ऊपर है सूर्य में उदय अस्त कुछ नहीं है सूर्य में उदय होता है ना अस्त होता है हमारी दृष्टि की अपेक्षा करके हैं तो होता क्या है पूर्व देश निवासियों की अपेक्षा दक्षिण दिशा में रहने वाले जो लोग समयमणिपुरी में रहने वाले जो लोग होंगे उनके भोग काल ज्यादा है तो उनकी दृष्टि से ज्यादा सूर्य दिखाई पड़ता है ज्यादा देर तक दिखाई पड़ेगा सूर्य उनकी भोग काल दुगुना है इनकी भोकाल पूर्व दिशा संबंधी के वर्षों की अपेक्षा रुद्रों की भोकाल ज्यादा है दुगुना है तो उनकी दृष्टि से सूर्य ज्यादा दिखाई पड़ा इसलिए दुगुना काल सूर्य रहता है करके अगर वास्तव में सूर्य का रहना रहना होता नहीं है तात्पर्य है और दक्षिण दिशा निवासी लोगों की अपेक्षा पश्चिम दिशा में रहने वाले जो लोग हैं जो आदित्य लोग हैं तो यह है ना वसु रुद्र आदित्य आदित्य है उनकी रुद्रों की अपेक्षा दुगुना काल में भोग काल दुगुना है उनका माने उनकी दृष्टि सूर्य को देखने के लिए ज्यादा समय मिल रहा उनको ज्यादा समय वहां बैठे हुए होते वो काल समाप्त नहीं होता उनका इसलिए ज्यादा देर तक सूर्य के साथ संबंध होता है इसलिए कहा गया इसी प्रकार पश्चिम दिशा संबंधी जो आदित्य का भोग काल है उनकी अपेक्षा उत्तर दिशावासी जो मरुद लोग हैं उनके भोग काल दोगुना ज्यादा है सूर्य में तो उदय अस्त है ही नहीं सूर्य जैसा है वैसा है हाँ। हमारी दृष्टि पड़ती है तो सूर्य उदय माना हमने और हमारी दृष्टि नहीं पड़ती सूर्य अस्त मानते हमारी मान्यता के ऊपर है सब उदय और अस्तभाव तो वो मरुदों की भोग काल ज्यादा होता है आदित्यों की अपेक्षा इसलिए दुगुना कहा और मरुदों की अपेक्षा भी साध्यों का भोग काल जो ऊपर वाले हैं उनका ज्यादा है दुगुना है इसलिए कहा गया सूर्य के लिए वहां दुगुना उदय और अस्त कहा यह तात्पर्य समझना है ये संगति लगाना चाह रहे हैं वास्तव में सूर्य में दुगुना दुगुना होना संभव नहीं है ये कहते हैं अमरावती आदि नाम पुरी नाम जो अमरावती चार पुरी हैं अमरावती सम्यमणि बारुणी और कुबेरपुरी है अमरावती आदि नाम पुरी नाम द्विगुणो उत्तर उत्तर दुगुना दुगुना करके आगे आगे भी दुगुना दुगुना करके काले न उदवास हाँ, सभी का निवास होगा तो क्यों ऐसा होता है तो कहते हैं संगति लगाते हैं उदयश्च नाम सूर्य का उदय माने क्या है वास्तव में सूर्य का उदय होना नहीं है सूर्य हमेशा ही है ये उदय अस्त तो हमारी दृष्टि के कारण माना माना गया जब तक हम देखते हैं सूर्य उदय मानते हैं जब देखना बंद हो जाता है सूर्य अस्त हो गया बोलते हैं ये पहाड़ में हमें अस्त हो जाता है ये पहाड़ के उदय वालों का अस्त है क्या वहां तो उदय है अभी प्रातकाल हमारे लिए उदय नहीं है पहाड़ में जब तक नहीं आएंगे किंतु इस पहाड़ के उस तरफ वालों के लिए उदय हो चुका है ऐसे मानते ऐसी मान्यता होती है हमारी दृष्टि की अपेक्षा है उदय का उदयस्त नाम सवितु तन नाम प्राणी नाम चक्षु गोचरापत्ति ही यही है उदय सूर्य का उदय माने क्या है सविता का सूर्य का उदय नाम तन निवासी नाम उन स्थानों में रहने वाले लोगों का चाहे अमरावतीपुरी में हो चाहे सम्मेनीपुरी में हो चाहे बारूणी में हो चाहे गोबीरपुरी में हो <clears throat> पुरी नाम अलकापुरी में बैठे कोई भी हो उनका प्राणी नाम उनमें रहने वाले जो प्राणी है उन उन पुरियों में रहने वाले चार दिशाओं में रहने वाले जो प्राणी है उनका चक्षु गोचरापत्ति चक्षु के विषय बन जाना ये उदय काल माना जाता है सूर्य का वास्तव में सूर्य उदय भी नहीं अस्त भी नहीं जब तक हमारे चक्षु का विषय बनता है तब तक उदय काल मानते हैं हम यही है तद अत्यस्त अस्तमन और चक्षु गोचर का अभाव हो जाना चक्षु का विषय न बन जब नहीं बनता है उसको अस्त मानते हैं सूर्य का सूर्य का उदय अस्त का अर्थ ये होता है सूर्य वास्तव में उदय अस्त से रहित है हमारी कल्पना है हम जब तक देखते हैं तो सूर्य उदय मानते हैं देखना बंद हो जाता है सूर्य अस्त मानते हैं यही होता है अच्छा न परमार्थ तो उदय उदयास्त मनिष्ठ है वास्तव में सूर्य में उदय और अस्त नहीं है परमार्थ तो वास्तव में सूर्य न उदय है न अस्त है दोनों में है निवासी नाम जब प्राणी नाम अभाव है जब वहां उस स्थान में रहने वाले प्राणी नहीं होंगे नहीं होंगे तो सूर्य के आने पर भी उनके लिए सूर्य दृष्टिगोचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा उनके लिए अभाव हो गया सूर्य का ये कहते हैं तन निवासी नाम से प्राणी का अभाव है जब वहां प्राणियों का अभाव हो गया भोकाल समाप्त हो गया उन लोगों का प्राणी नहीं है वहां ऐसी स्थिति में प्राणी नाम अभाव है तान प्रति तेने में मारेण गच्छन अभी यद्यपि सूर्य समान रूप से घूम रहा है हाँ, घूमने पर भी ये होगा उसी मार्ग से आने पर जो प्राणी नहीं है उनकी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है व्यक्ति नहीं है दृष्टि नहीं है स्थिति में तान प्रति प्राणी अभाव होने उनके लिए तेरह में मारे उसी मार्ग से जाते हुए सूर्य जा रहे हैं उसी मार्ग से जाने पर भी लक्षण नहीं वो उदयता नास्त करता उनके लिए उदय अस्त रहित हो जाता है न उदय मानना होगा ना अस्त मानना होगा ये नियम है क्यों प्राणी नहीं है देखने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके दर्शन के कारण से उदय और अस्त की कल्पना होती थी वो दर्शन माने कल्पना करने वाला व्यक्ति नहीं है वहां उसी रास्ते से सूर्य जा रहे जाने पर भी उदय अस्त नहीं माना जाता वहां चक्षु को तो गोचरा पत्ते तद्यते से अभाव क्यों वहां चक्षु का विषय भी नहीं बना और उसका अभाव भी नहीं कर सकते हैं दोनों ये स्थिति दी है ये कहा टीका से देखें यदा अवधि शून्याशा जब अवधि पूरी नहीं रहेगी दैत्य आकर के उपद्रव कर देंगे हम्म। स्वर्गपुरी है अमरावती पूरी वहां पर दैत्यों ने आके उपद्रव किया छिन्न भिन्न कर दिया हाँ, तो वहां के देवता सब भाग गए या मर गए जो कुछ हो गया हाँ, ये कहते हैं यदा अमरावती शून्य सात जब अमरावती पूरी शून्य हो जाएगी दैत्यों को उपद्रवों के कारण स्थिति तदा ही ताम प्रति उस पुरी के प्रति पुरस्ताप उदयती इति प्रयोग है फिर पूर्व में सूर्य उदय होता है कहना बनता नहीं है क्यों वसु नाम भोगांत इसलिए वसुओं का भोग का समाप्त हो गया जब जहां बैठ करके भोग करना था वहां उपद्रव हो गया पूरी नष्ट हो गई नष्ट होने पर भोग समाप्त हो गया वस्तु का वस्तुओं का ये कहा एवं उत्तरासम विनाश है इसी प्रकार उत्तर उत्तर पूरी का विनाश हो जाने पर दक्षिण पूरी नाश हो जाएगी जब कोई दैत्यों का उपद्रव होगा ऐसी स्थिति में तो द्विगुण कालीन रुद्रादि नाम भोग स्थिति ये समय मणिपुरी की अपेक्षा दुगुणा काल से भोग समाप्त हो जाएगा वहां रुद्रादि का अतः इमाम वचनम वचन व्यक्ति में आश्रित तमेव तो परिहार इसी वचन को लेकर के उसका परिहार कहते हैं अमरावत्यादि नाम यही भाष्य में होता था अमरादित्यादि अमरावत्यादि नाम नाम द्विगुणोत्तरोत्तर काले न उद्वास ये कहा था कि अमरावती पुरी आदि में दुगुना दुगुना काल से निवास संभव है ये कहा था ठीक है हम कहते हैं तथा भी कथम विरोध है माधी ये विरोध का समाधान कैसे हो गया मान पुराण में तो बराबर घूमने को कहा हुआ है और यहाँ तो दुगुना दुगुना करके चल रहे हैं इसका समाधान कैसे हो गया है तब कहते हैं उदयश्च इत्यादि कहा देखो समाधान यही है उदय माने क्या है दृष्टि गोचर हो जाना अस्त माने दृष्टि का गोचर नहीं होना यही तो उदयस्त है यही बताया और परमार्थ तो वास्तव में तो सूर्य में उदयस्त है नहीं इत्यादि कहा तदुपतम यही कहा पुराण ने कहा ये बात पुराण की बात बोलते हैं यैर्यत्र दृश्यते भास्वान् स तेषाम् उदय तिरो भाव चैत्रैति तदेवास्तमनम रवे ऐसा कहा है यैर यत्र भास्वान दृश्यते जिन लोगों के द्वारा जहां सूर्य दिखाई पड़ता है यही जनई जिन लोगों के द्वारा यत्र जिस स्थान पर भाषवान मान सूर्य दृश्यते दिखाई पड़ता है यही यत्र भास्वान दृश्यते स वो स्थान होगा तेषाम उदय स्मृता वो जो आदित्य है वह सूर्य ते उनके लिए उदय कहा जाता है जिस स्थान पर जिन लोगों के द्वारा सूर्य दिखाई दिया उन लोगों के द्वारा वहां पर सूर्य का उदय कहा जाता है किरोभाव जो यत्र हाँ, जहां पर देखना बंद होगा लोगों का तदेव अस्तमनम रवे उसी का सूर्य का अस्त कहा गया है बाकी वास्तव में सूर्य में अस्त और उदय है न उदय है न अस्त है कश्य नोदय सर्वदा सतह उदयास्तमहे नाम दर्शना दर्शन रवि ऐसा कहा वास्तव में देखो नैव अस्तमनम अर्कश्य अर्कश्य मैंने सूर्य से अस्तमनम नहीं वास्तव में सूर्य का अस्त होना संभव नहीं है और नोदय सर्वदा और सर, न उदय उदय भी होना संभव नहीं सूर्य का उदय अस्त तो दृष्टिगोचर के कारण है सर्वदा सता क्यों हमेशा है वो जो हमेशा होता हो इसलिए सूर्य ऐसे सर्वदा रवे सतह रवे सर्वदा सतह रवे सर्कश्य हमेशा विद्यमान जो सूर्य है उसमें न उदय है न अस्त है उदयास्त मने नाम दर्शना दर्शना दर्शने रवे कहा उदय और अस्तमन माने क्या है उदय और माने यही होता है दर्शन और अदर्शन को लेकर के कहा जाता है जब दिखाई पड़ता है तो उदय बोलते हैं दिखाई नहीं पड़ता है तो अस्त बोलते हैं हमारे चक्षु के विषय होता है उदय मानते हैं हमारे चक्षु का विषय नहीं बनता है अस्त मानते हैं वास्तव में सूर्य में उदय अस्तम उदय और अस्त नहीं है यही कहा पुराण में अभी ठीक हमें कहते हैं अमरावती आदिशु पुरीशु जो अमरावती चार पुरी हैं पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तर उत्तरत्र उद्वास काल द्विगुण्यम अस्तु हाँ, पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर में माने निवास काल दुगुना हो पूर्वादि शंका कर रहा है ठीक हो मान लेते हैं दुगुना हो पूर्व की अपेक्षा दक्षिण में दक्षिण के पश्चिम में पश्चिम के उत्तर में निवास काल दो दो गुना हो स्थान से ने सवितु उदयास्तमय सवितु दर्शनादर्श ने उदयास्तमय स्थान चाम माने ये भी हो अस्तु स्थान लोट लगार मध्य प्रथम पुरुष दो वचन ये भी हो सविता का जो देखना और न देखना को लेकर के उदय और अस्तमय जो कहा वो भी मान लेते हैं वो भी हो अस्तु स्थान संतु ऐसा है स्थान लोट लगा प्रथम पुरुष दो बचा अष्टातु का रूप है ये भी हो पूर्वाधिकार कह रहा है सवा ये समय कदाचन अस्तमेती नौ देती श्रुति क्यों श्रुति है पूर्वादि ऐसी श्रुति है हाँ। सवाई ये ये जो आदित्य है ना ऊपर ये आदित्य न कदाचन अस्तमेती नौ देती कभी अस्त भी नहीं होता कभी उदय भी नहीं होता श्रुति बोलती हम मानते इस बात को मैंने दर्शन और दर्शन को लेकर के उदय अस्तमन माना जाए ठीक है पूर्वादि ने कहा वस्तु तो उदयास्त वय वास्तव में सूर्य में उदयास्त नहीं है ठीक है हाँ, वस्तु तो नोदयास्त वय स्तः यहां भी ले जाके स्त क्रिया पद है अस्थि स्त ये भी मान लेते हैं ये भी हो ठीक है ये उदयास्त में वास्तव में नहीं है सूर्य का तथा च पुरुष तुल्यत्व न गचते जब फिर पुरियों में चारों पुरियों में जो समान रूप से घूम रहा है सूर्य पूर्वादी ये कहता है घूम रहा है हाँ, पुरुषु तुल्यत्व न गच्छता सवितु समान रूप से चलने वाला सविता का उदयास्तमय काल वैषम्य अयुक्तम जब समान रूप से चल रहा है सूर्य तो फिर उस स्थिति में जो उदय काल और अस्त काल का विषमता बताना ये ठीक नहीं है समान रूप से घूम रहा है सूर्य तो एक घर है मान लो एक पहाड़ है सुमेरु पर्वत उसको परिक्रमा कर रहा है सूर्य एक घर है तो घर में घूमने वाला समान रूप से घूम रहा है वो तो उसमें फिर कहीं ज्यादा होना कहीं कम होना ये तो संभव नहीं ये पूर्वादी की शंका है तो उदय अस्त काल तो तथा च पूरी सु तुल्यत्व ने गच्छता तुल्य रूप से चलता हुआ जो सूर्य का गच्छता सवितु चलने वाला सूर्य का उदयास्तमय काल वैषम्य मयुक्तम उदय काल और अस्त काल को जो विषमता बताया आपने ये ठीक नहीं है ये शंका किया तो कहा उत्तर दिया तम निवासी नाम च प्राणिनम अभावे ताम प्रति तेन मार्गण दक्षण भी नैव उदयता नास्तमिति चक्षु प्रत्येक तद अत्य अभाव जब वहां रहने वाले निवासी है ही नहीं देखने वाला व्यक्ति है ही नहीं उस स्थिति में सूर्य जाते हुए भी वहां पर उदय और अवस्था की बातें नहीं आती है कहा तन निवासी नाम से प्राणी में अभाव उस स्थान पर रहने वाले के प्राणी का जब अभाव हो जाता है होने पर तो पूर्व दिशा में सूर्य पहुंचा है घूम करके तो गया कि तो वसु है ही नहीं उस काल में भोग, लेने वाले देखने वाले व्यक्ति है ही नहीं अभाव तान प्रति उनके प्रति तेरे में मार्ग अच्छा भी उसी मार्ग से जाते हुए भी नहीं वो उदयता नास्त मतलब वहां उदय और अस्त कहना बनता नहीं वहां चक्षुगोचरापत्ति तद अत्यश्चित अभाव चक्षु का विषय भी नहीं होता है उसका अभाव कहना भी नहीं बनता ठीक है कहते हैं भोग काल द्वैगुण्यम न सभी तो गतिर आदि की अपेक्षा श्रुतिया उच्चते भोग काल के जो दुगुण था सविता का सविता के गति की अपेक्षा से नहीं कहा गया हाँ, सविता कहीं रूपता हो कहीं जल्दी चलता हो ऐसा गति के हिसाब से नहीं कहा यहां ये कहा भोग काल द्विगुण बसुओं की अपेक्षा रुद्रों की भोग काल दुगुना है रुद्रों की अपेक्षा आदित्यों का भोग काल दुगुना है ऐसा बताया तो भोग काल द्विगुण जो दुगुणता है वह न सवितु गतिर आदि की अपेक्षा सविता की गति अधिक है इसलिए ऐसा नहीं है श्रुतिया इसलिए श्रुतिया उच्चते ये नहीं श्रुति के द्वारा कहा जाता नहीं ये न पुराण विरोध जैसे पुराण के विरोध आ जाए जैसे वो काल दुगुण जो कहा सविता की गति के हिसाब से नहीं है जिसे पुराण की विरोध आ गया पुराण से किंतु अमरावती आदि नाम पूरी राम दैत्य उपहता राम जब अमरावती आदि पूरी है दैत्य के द्वारा जब विनाश कर दिया जाता है तो पूर्वासी भी नहीं रहेंगे उस काल में फिर सविता आने पर भी चक्षु गुजरापत्ति नहीं होगी उनकी ये कहना चाह रहे हैं किंतु अमरावती आदि नाम पूरी राम अमरावती आदि जो पूरी है इनका दैत्य उपहता राम दैत्य के द्वारा जो विनाश को प्राप्त हुई पूरी हैं उसमें पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तर उत्तर पूरी नाम पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर जो पूरी है माने अमरावती की अपेक्षा समयमणि समयमणि की अपेक्षा बारूणी बारूणी की अपेक्षा पौगेरी है इत्यादि पुरिया है पूरी नाम द्विगुणन कालीन उर्वास दुगुना काल से विनाश आ जाएगा वहां विनाश हो गया तद अपेक्षा उत्तर उत्थान से भोग काले द्विगुणम श्रुतिया उत्तम यदि उसी की अपेक्षा करके कहा भोग काल वहां दो दुगुना दुगुना बता दिया है अभी पूर्वाजी शंका करता है अथा उद्वास कालाधिक्या भोगच्युति कालाधिकम न भोग कालाधिकम अतः पूर्वाजी बोलता है कि भोग उद्वास काल अधिक होने से भोग भोगच्युति काल अधिक है माने वहां विनाश ज्यादा हो जाता है इसलिए भोग काल की च्युति ज्यादा हो जाती है न भोग काल का भोग काल अधिक तो होगा नहीं कहा तो शंका भी कहते हैं आगे उत्तर देते हैं तथा अमरावत्या सकाशा द्विगुणम कालम समुपुरी बसती सूर्य इसलिए क्या होगा वहां भोग काल ज्यादा है अमरावती में रहने वालों की अपेक्षा दैत्य वहां इतने उपद्रव नहीं करते क्या दक्षिण में समयपुरी में जितने अमरावती में करते हैं तो वहां पर जब उनकी पूरी रह गई तो लोग भी रह जाएंगे लोग रहने से ज्यादा दिन तक उनको सूर्य को दर्शन मिल जाएगा इसलिए उनका भोग काल ज्यादा हो जाता है ये कहा तथा अमरावती सकाशात अमरावती की अपेक्षा से द्विगुणम कालम समयमणिपुरी बसती समयपुरी में सूर्य रहता है द्विगुणा काल कहा माने वहां रहने वालों को दिखाई पड़ता है ज्यादा समय दिखाई पड़ेगा क्यों वहां दैत्य इतना उपद्रव नहीं मचाते जितने अमरावती में मचाते हैं हम्म, ऐसा है अतः तन निवासी न प्राणी न वहां जो दक्षिण दिशा में रहने वाले प्राणी है वहां प्रति दक्षिणता उदय उदयती वहां लगता है कि उनको क्या दक्षिण से उदय होता है सूर्य वहां रहने वालों के लिए दक्षिणता इव उदय दक्षिण से उदय होगा जैसा होगा इति उत्तर तो अस्तमित उत्तर से अस्त होता जैसा इति उच्चते अस्मद बुद्धि से अपेक्षा जो कहा गया दक्षिण से सूर्य का उदय होना और उत्तर में अस्त होना वहां रहने वालों की दृष्टि से नहीं हमारी दृष्टि से कहा हम पूर्व से दक्षिण में गए अभी हम यहाँ बात करने वाले पूर्व से दक्षिण पहुंचे हुए हैं इसलिए हम कहते हैं दक्षिण से उदय होना उत्तर में अस्त होना हमारी दृष्टि से कहा है उनकी दृष्टि में तो जहां उदय होगा वो उनके लिए पूर्व है उनके लिए दक्षिण से उदय नहीं होता दक्षिण दिशावासी के लिए तो हमारी दृष्टि से अस्मद बुद्धि में अपेक्षा हमारी बुद्धि की अपेक्षा करके कहा गया ये <clears throat> कहा तथा उत्तराष्ट्र की गुरुषि हो जाना इसी प्रकार जितने दक्षिण दिशा में समय मनी वो उपद्रव करते हैं दैत्य लोग उसकी अपेक्षा पश्चिम और कम है बारूणीपुरी में और कम उपद्रव करते हैं वहां के निवासी ज्यादा दिन रहेंगे उनका भोग काल ज्यादा है भोग काल ज्यादा है तो सूर्य का दर्शन ज्यादा होता है इसलिए दुगुना काल कहा इसी प्रकार उत्तर दिशा निवासी जो होंगे उनके यहाँ उत्तर दिशा के विनाश कम होता है दैत्य लोग कम करते हैं उपद्रव वहां इसलिए क्या होता है उनका भोग काल और ज्यादा हो गया ज्यादा होने से सूर्य की गति ज्यादा हो निवास ज्यादा हो गया इत्यादि ऐसा समझना कहा ठीक है हम कहते हैं यथा उद्वास काल द्विगुण्यम मुक्तम तद्वत इतिहावत जैसे तथा का अर्थ है या जैसे विनाश काल ज्यादा कहा उसी प्रकार भोग काल भी वैसे होगा अमरावती निवासी प्राणी वर्ग अपेक्षया जो पूर्व दिशा में रहने वाले प्राणी अमरावती इंद्र की पुरी है वो वहां तो बहुत उपद्रव होता है सबसे ज्यादा उपद्रव वही होता है दैत्यों का अमरावती निवासी प्राणी वर्ग अपेक्षया अमरावती निवासी जो प्राणी की प्राणी समूह की अपेक्षा से समयमणि निवासी ना प्राणी ना प्रति जो समयमणि माने दक्षिण दिशा निवासी जो प्राणी उनके प्रति द्विगुणन में सभी तो उदयास्तमय उत्तम युक्तम च हाँ। माने दुगुना काल से सूर्य का उदय अस्तमय है माने दक्षिण में दुगुना काल से उदय है और उत्तर में अस्त है युक्तम च ये कहना ठीक है दर्शनादर्शन दुगुण काल भावित्व दर्शन और दर्शन दुगुना काल है वहां क्योंकि पूर्व दिशा में जितना दर्शन था उसके दुगुना काल दर्शन है वहां और दक्षिण में जितने दर्शन काल है उसका अभाव पूर्व दिशा में है दर्शन का अभाव काल है पूर्व दिशा में दर्शन और अदर्शन दक्षिण में दर्शन काल ज्यादा है तो पूर्व में अदर्शन काल ज्यादा है पूर्व में जितने समय होता था पशुओं का भोग उससे दुगुना भोग वहां है उनका दर्शन काल ज्यादा है समनपुरी निवासी का तो अदर्शन हो जाएगा किन के लिए पूर्व वालों के लिए इनका भोग का अभाव काल ज्यादा है वहां भोग काल ज्यादा है तो अभाव काल ज्यादा हो जाएगा भोग का अभाव ज्यादा होगा ये कहा <clears throat> न तो तन्यवासी दृष्टि अपेक्षा या दक्षिण उत्तर उदयास्तमय हो वहां वहां रहने वालों के लिए दक्षिण में सूर्य उदय होना और उत्तर में अस्त होना पश्चिम में उदय उदय होना पूर्व में अस्त होना वहां निवासी को दृष्टि से नहीं कहा है ये हमारी दृष्टि की अपेक्षा हम पूर्व में देख रहे थे अभी पूर्व की अपेक्षा अब दक्षिण में सूर्य पहुंचा हमारी दृष्टि से घूम रहा है सूर्य हमारी दृष्टि से है वहां निवासियों के लिए तो पूर्व ही होगा जहां सूर्य उदय होगा वो पूर्व ही होगा ये नहीं कि दक्षिण में उदय होना और उत्तर में किसी को भी ये बातें बैठती नहीं हम ये छांदों के पढ़ा रहे थे कैलाश आश्रम यहीं पर ये अठानबे निन्यानबे की बात है उस समय में परमानंद भारती जी आए हुए थे चातुर्मास कर रहे थे यहाँ कैलाश में नंदी स्वामी परमानंद भारती जी तो ये पाठ में बैठते थे वो ये छांदों में बैठते थे तो बैठे आकर के एक दिन पूछे महाराज ये बात है हमारे गले में नहीं उतरती है दक्षिण उदय होना उत्तर में अस्त होना पूर्व में उदय पश्चिम अस्त तो ठीक है पश्चिम उदय होना पूर्व में अस्त होना ये बातें तो समझ नहीं आती हमने अपने ढंग से समझाया था यही है ये कहा न तो तम निवासी दृष्टिया दृष्टि अपेक्षा दक्षिण उत्तर हो उदयास्तमय हो वहां के रहने वाली के निवासियों की दृष्टि की अपेक्षा के दक्षिण में उदय होना और उत्तर में अस्त होना ये नहीं बनती बातें तत्त दृष्टिया पूर्व पश्चिम रेव तला जहां जहां जो बैठे हैं उनके लिए पूर्व पश्चिम ही होगा जहां उदय होगा उनके लिए पूर्व होगा जहां अस्त होगा उनके लिए पश्चिम होगा पूर्व दिशा निवासी के लिए पूर्व पूर्व है दक्षिण दिशा निवासी के लिए पूर्व दक्षिण है वो पूर्व उनके लिए उत्तर पश्चिम बन जाएगा पश्चिम दिशा निवासी के लिए पश्चिम पूर्व हो जाएगा पूर्व पश्चिम हो जाएगा जहां सूर्य दिखाई दिया वो पूर्व है ऐसा है तो ये कहा यहां किंतु ये दक्षिण में उदय होना उत्तर में अस्त होना पश्चिम में उदय होना पूर्व में उदय होना ये क्या है फिर क्या है अस्मत दृष्टि हमारी दृष्टि की अपेक्षा हम देख रहे हैं सूर्य घूम रहा है हमारी दृष्टि भाई पूर्व में था अभी पहुंच गया दक्षिण में तो हम हमारी दृष्टि से दक्षिण आदि की भेद कर रहे हैं ये कह रहे हैं उनकी दृष्टि से तो पूर्व ही हो जहां सूर्य उदय होगा उनके लिए पूर्व है ये कहते हैं अस्मद बुद्धि अपेक्षित दक्षिणतः उदेती उत्तरतश्च अस्तमेती उदय हमारी बुद्धि की अपेक्षा से दक्षिण में उदय होता है और उत्तर में अस्त होता है कहा गया है उनके दृष्टि से तो जहां सूर्य उदय होगा उनके लिए पूर्व है तत्त दृष्टिया पूर्व सूर्य भावतावाद उन उन लोक निवासियों के लिए तो वह पूर्व ही हो जाएगा जहां उदय होगा पूर्व होगा और जहां अस्त होगा पश्चिम होगा यही होता है दक्षिण उत्तर तयोर असत्वम द्योतयते नहीं कहा गया इव शब्द इव शब्द तयो तन्निवासी जनापेक्षया दक्षिण उत्तर स्थयोर असत्वम द्योतयति कहा इव शब्द जो लगाया भाष्यकार ने इव लगाया हुआ है प्राणिना प्रति दक्षिणा का इव दक्षिण से जैसा वास्तव में दक्षिण से उदय नहीं होता यही कहते हैं दक्षिण और उत्तर में वास्तव में अस्त भी नहीं होता युवा शब्द ये व्यतीत करता है भाष्य में जो युवा लगा जैसा दक्षिण से उदय हुआ जैसा उत्तर में अस्त हुआ जैसा यही कहते हैं टीकाकार युव शब्द हाँ, जो भाष्य में युवा शब्द दिया युवा लगाने से जैसा हो जाता है वास्तव में नहीं होता तयो जो दक्षिणोत्तर यो तन निवासी जनापेक्षया स्थयोर असत्व देते माने तजुबन तो दक्षिण उत्तर में जो दक्षिण उदय उत्तर में अस्त कहा हुआ तनिवासी तो जनापेक्षा उनमें रहने वाले लोगों की अपेक्षा करके तो क्या होगा दक्षिण उत्तर स्थल और असतुम दक्षिण भी नहीं होता उत्तर भी नहीं होता उनके लिए उन्हें तो पूर्व और पश्चिम होगा उनकी दृष्टि से तो पूर्व और पश्चिम होगा यह हमारी दृष्टि से पता है दक्षिण उत्तर आदि शब्द ये द्योतित करता है युवा शब्द यथा अमरावती अपेक्षा सम्यमिन्याम उद्वासकार आदि के मुक्तम जैसे अमरावती की अपेक्षा संयमनी काल में उद्वास काल ज्यादा बता दिया निवास काल ज्यादा कहा तथा तद अपेक्षा बारुण्याम उसी प्रकार दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम में ज्यादा उपवास काल है निवास काल है तद अपेक्षा विभायाम विभा माने उत्तर वहां तत्कालाधिक्यम अवधेयम उसका निवास काल का आधिक्य समझना चाहिए कहा तथा उत्तरासुपी पुरुषी योजना ये बता दी आगे की पुरियों में ऐसी योजना करना समय मनिम अंतर्भाव्य बहुजन क्यों दो तीन दो पूरी बोल चुके हैं दो पूरी बचे हुए हैं पूर्व और पश्चिम बता दी दक्षिण बता दिया पश्चिम और उत्तर दो बचे यहाँ बहुवचन कैसे कर दिया ये प्रश्न है तथा उत्तराशु भी पूरी योजना आगे की पूरी भी सब योजना करना तो ये सप्तमी बहुवचन कैसे कर दिया दो हैं बचे हुए हैं दो पूरी तो हो गई हम्म। अमरावती और स्वामी की चर्चा हो गई अब रह गए बारूणी और विवाह दो रह गए तो दो के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया भाष्यकार ने इतराशु पुरुष यही टीकाकार कहते हैं सम्य मणि से अंतर्भाव पे पहुंचा वहां सम्य मणि को भी लिया भीतर डाला तो तीन पूरी बनाया इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया दक्षिण को भी ले लिया कहा आगे कहते इत अस्मृत विद्या अपेक्षा दक्षिण गत्यादि ना अस्तमनम इत्यादि ये क्या है इत अस्मद बुद्धि हमारी बुद्धि की अपेक्षा ही से ही दक्षिण में उदय होना उत्तर में अस्त होना पश्चिम में उदय होना पूर्व में अस्त होना इत्यादि हमारी बुद्धि वहां निवासियों की अपेक्षा से नहीं है हाँ सब जब सूर्य को पूर्व माने सूर्य उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो उनके लिए पूर्व होता है हमेशा पूर्व होता है सूर्य के सम्मुख होकर के जब देखेंगे जिधर सूर्य उदय हो रहा है उसके लिए पूर्व होता है वो वहां दक्षिण उत्तर नहीं होता ये हेतु देते हैं और तस् इस हेतु से भी अस्मत बुद्धि में अपेक्षा हमारी बुद्धि हमारी बुद्धि जो पूर्वादि सूर्य घूम रहा है करके हम हमारी बुद्धि में कल्पना कर रहे हैं इसलिए हम दक्षिण में उदय होना उत्तर में अस्त होना इत्यादि बोल रहे हैं उनकी दृष्टि से आपसे नहीं है वहां तो पूर्व उनके लिए इत अस्मत बुद्धि में अपेक्षा दक्षिण गत्यादि ना अस्तमनम दक्षिण तो उदयती मंत्र में था ना उसी का यहां यह अर्थ कर रहे हैं उत्तर अस्तमेती आदि और से कहा टिप्पणी में कहते हैं अत्र दक्षिणता इत्यादि वचनम इतव उत्तम दक्षिणता ऐसा शब्द चाहिए क्यों मंत्र में दक्षिणता पाठ है दक्षिणता उदयती उत्तरता अष्टमेती ऐसा पाठ है तो वही पाठ होना चाहिए कि दक्षिण दिग्गत नहीं होना दक्षिण गत्यादि ना नहीं पाठ ऐसा होना चाहिए ऐसा कहा इसलिए भाष्य में कहते हैं सर्वेशा से मेरू उत्तरोत्तरो भगवती कहते हैं प्राणी मात्र के लिए सभी के लिए जो सुमेरु पर्वत है उत्तर की तरफ होता है सुमेरु पर्वत सबके उत्तर की तरफ है जहां से भी जाओ उत्तर पड़ेगा जहां से भी हो सूर्य घूम रहा है वो मेरु को घूमता है क्योंकि तो? सभी जन जितने भी बैठे हैं जब प्राणी मात्र के लिए सुमेरु पर्वत जो होगा उत्तर की तरफ होगा बाया तरफ होगा उत्तर माने बाया तरफ होगा क्यों सूर्य की तरफ मुख करते हैं तो सूर्य घूम रहा है इसको तो सबका बाएं तरफ पड़ेगा पहाड़ ये पहाड़ को परिक्रमा कर रहा है तो हम सूर्य की तरफ मुंह करते हैं हम पहाड़ के बाहर हैं तो हमारे लिए बाएं पड़ेगा सबके लिए बाएं पड़ता है सर्वे शाम से मेरू उत्तर उत्तर तो बहुत ही सभी के लिए मेरू पर्वत जो है उत्तर उत्तर माने बाएं तरफ बाएं तरफ होता है यदा अमरावत्याम मध्यान्ह सविता सविता देखो जब अमरावती माने पूर्व दिशा में मध्यान्ह काल में सविता है अमरावती पुरी में मध्यान्ह काल में पहुंचा हुआ सविता तदा तब समयमन्याम उद्यन दृश्य थे और दक्षिण दिशा में समयमणिपुरी में उगता हुआ दिखाई उदय काल दिखाई पड़ेगा वहां यहाँ यहाँ मध्यान्ह है वहां उदय काल होगा दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ अस्तकाल होगा ये कहते हैं तत्र तत्र मध्यान्ह गत हो तत्र माने जब दक्षिण दिशा में मध्यान्ह में गत होगा समयमणिपुरी में मध्यान्ह काल में होगा उस स्थिति में बारुण्याम उद्यम दृश्य थे पश्चिम में उदय काल होगा ऐसा तथा उत्तर श्याम उसी प्रकार जब उत्तर दिशा में ऐसा होगा तो पूर्व दिशा में उदय काल होगा प्रदक्षिणावृत्ति वृत्ति तुल्यवाद सूर्य की जो प्रदक्षिणावृत्ति है समान है कि जो ज्यादा भोग तो इसलिए पता है भोग काल की ज्यादा होने से दैत्यों का उपद्रव ज्यादा कम कम जहां है वह भोग काल ज्यादा है जहां दैत्यों का उपद्रव ज्यादा है वह भोग काल कम है समय मुनि अमरावती में सबसे ज्यादा है इसलिए भोग काल सबसे कम है इत्यादि ये कहा अच्छा। ठीक है कहते हैं उद्यंतम आदित्यम पुरतो लोकयताम अवलोकयताम वाम भागे स्थितत्वात मेरो सर्वेशा उत्तरो देखो उगते हुए सूर्य को सब लोग देखते हैं और सूर्य क्या कर रहे हैं हमारे सामने परिक्रमा चल रही है एक पहाड़ की परिक्रमा कर रहे हैं हम पहाड़ के बाहर हैं हम उगते हुए सूर्य देखते हैं तो हमारे बाया तरफ मेरु पर्वत होता है सबके लिए बाया तरफ होता है यही ग्रह सुमेरु पर्वत सबके उत्तर में है सबके बाया तरफ में यही कहा यही कह उद्यंतम आदित्यम पुरतो अवलोकताम अवलोकताम जनानाम माने उगते हुए सूर्य को सामने से देखने वाले के सामने बाम भागे स्थितत्वाद मेरु वाम भाग में है सुमेरु सुमेरु पर्वत बाएं भाग में होगा क्यों तो वो परिक्रमा कर रहा है सूर्य हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो हमारे बाएं भाग में हो जाएगा सुमेरु पर्वत इसलिए सर्वेशा में वो उत्तर उत्तर उत्तर तो होते सबके लिए उत्तर होगा ये ये सुमेरु पर्वत तथा च उदयास्तमयाभ्याम पूर्वापर विभागात न तत्पूर्वासी दृष्टि अपेक्षा दक्षिण इत्यादि वचन किंतु अस्म दृष्टि अपेक्षा है तथा उदय अस्तमयाभ्याम पूर्वापर विभाग विभाग दो ही विभाग होता है उदय और अस्तमय काल को लेकर के पूर्व और अपर दो ही विभाग होता है दिशा का मांगी दक्षिण उत्तर आदि दिशा का विभाग नहीं होता एक तथा च उदयास्तमयाभ्याम उदय काल उदय दिशा और अस्त दिशा को लेकर के पूर्वापर दिग विभाग दो ही विभाग होता है पूर्व दिशा और अपर दिशा दो ही दिशा का विभाग होता है पूर्व पश्चिम सभी के लिए पूर्व पश्चिम दो ही दिशा होता है जहां सूर्य उदय दिख रहा है वो पूर्व उसके लिए जिधर अस्त हो रहा है उसके लिए वो पश्चिम दो ही दिशा होता है अच्छा न तत्पूर्व बासी दृष्टि अपेक्षा दक्षिण दिखा वहां पूर्व में रहने वालों की दृष्टि की अपेक्षा दक्षिण से सूर्य उदय होना उत्तर में अस्त होना नहीं होता उनके लिए तो पूर्व में उदय होना पश्चिम अस्त होना होता है मतलब किंतु अस्मत दृष्टि अपेक्षा है हमारे दृष्टि की अपेक्षा ही कहा गया दक्षिण में उदय होना हम सूर्य को घूमते हुए समझ रहे हैं यहां से यहां से कल्पना कर रहे हैं सूर्य घूम रहा है तो अभी पूर्व में था अभी दक्षिण में पहुंचा है तो दक्षिण में पहुंचा तो उदय हो गया उत्तर में अस्त हो गया हमारी दृष्टि से हम बता रहे हैं वहां रह निवासियों की दृष्टि से तो पूर्व में उदय होता है पश्चिम अस्त होता है उनके लिए पूर्व है वो जहां उदय हुआ पूर्व है उद्वास काल द्वैगुण्य अपेक्षा भोग काल द्वैगुण में उत्तम ये जो कहा वहां निवास का ज्यादा होने से भोग काल भी दुगुना है ऐसा कहा था संप्रति गति सवितृगत्यादि की अपेक्षा भोकाल आदि कम निमुख्यात पूर्वादि शंका करता है कि सविता की गति की अपेक्षा ही भोकाल ज्यादा क्यों नहीं माना जाए सविता रुक जाता है सविता पूर्व जल्दी चला दक्षिण में जाके ज्यादा रुका पश्चिम में जाकर और ज्यादा रुकेगा ऐसा माना जाए संप्रति सवित्री गति आदि की अपेक्षा एवं सविता की गति की अधिकता की अपेक्षा से ही भोगकाल आदि कम सविता की गति से भोगकाल ज्यादा माना जाए क्यों न आगे शंका उठाई तो कहा पुराण विरोध समाधान असंभव में सिद्धांत बोलते हैं ऐसा करेंगे सविता की गति के साथ भोकाल ज्यादा मानेंगे तो पुराण के साथ विरोध होगा सविता की गति ज्यादा नहीं माना पुराण ने क्या बताया समान कुछ माना हुआ है विरोध होगा ये कहा इत्यादि कहा यदा इत्यादि भाषा में कहा यदा अमरावत्यम मध्यान्हगत सविता तथा समय में ना मुद्यम दृष्टि समान है सूर्य की गति समान है वो तो भोग काल की ज्यादा होने के कारण से ज्यादा उदयास्त में ज्यादा माना गया उनको मतलब ज्यादा देर देखा ही पड़ता है इसमें कहा ठीक है यथा समय में मध्यान्ह गो वारुण्यम उद्यम भगवती जब दक्षिण दिशा में मध्यान्ह में सूर्य होंगे तो पश्चिम दिशा में जाकर बारूणी नगरी में क्या होगा उदय काल हो जाता है तथा उसी प्रकार तस्याम मध्यान्ह गो हो जब पश्चिम में मध्यान्ह होगा सूर्य उस काल में विभायाम उद्यम दृष्टि देव विभा माने उत्तर हमारा जिसकी अलकापुरी अलकापुरी कुबेर की पुरी वहां पर उगता हुआ दिखाई पड़ेगा उत्तम जो वायु प्रोक्ति वायु पुराण में कहा है मध्यान्हगस्तमरा भत्याम यावत भक्ति भास्कर वैवस्वते संयमन हे उदय दृश्य दृश्यते सुखायाम अर्धरात्र दिवायाम अस्तमे मान पूर्व काल में जो मध्यान्ह में सूर्य है पूर्व दिशा में उस काल की बात कर रहे हैं एक दिशा समझेंगे तो सभी दिशा को समझ सकते हैं आप पूर्व दिशा में मध्यगस्तु अमरावत्याम यावत भवि भास्कर भास्कर हम्म, यावत मध्यग स्तु अमरावत्याम भवती सूर्य भगवान जब तक अमरावती में मध्यान्ह में बैठे हुए हैं अमरावती के तो ठीक ऊपर के सूर्य है मध्यान्ह में सूर्य उस काल की बात कर रहे हैं माने पूर्व दिशा में सूर्य मध्यान्ह में बैठे हैं जिस काल में वैवस्वत समय मने जो वैवस्वत नगर है विवस्वान के पुत्र को वैवस्वत बोलते हैं यमराज को वैवस्वत कहा जाता है विवस्वान सूर्य है उनके पुत्र को वैवस्वत सम्यमने वैवस्वत है जो वैवस्वत का पुरी है सम्यमनी पुरी दक्षिण दिशा में उदय तत्र दृश्य थे वो सम्यमणिपुरी में उदय दिखाई पड़ता है वैवस्वत की नगरी जो सम्यमणिपुरी है उसमें सम उदय काल दिखाई पड़ेगा पूर्व में जब मध्यान्ह है तो वहां उदय होने वाले हैं उदय काल दिखाई पड़ेगा और उत्तर दिशा में क्या होगा अस्तकाल दिखाई पड़ेगा यही बोलते हैं सुखायाम अर्धरात्र से सुखा माने होता है पश्चिम दिशा में आधी रात होगा उसका उस काल जब यहां मध्यान्ह पूर्व में तो वहां आधा रात होगा उसके विपरीत है वो पश्चिम दिशा सुखायाम अर्धरात्र सुखा माने पश्चिम दिशा में बारूणी नगरी में अर्धरात्रि होगी विवायाम अष्टमेती चाह विवाह माने उत्तर दिशा अलकापुरी वहां पर अस्तकाल होगा जब सूर्य मध्यान्ह में यहां होगा पूर्व दिशा में होगा उस काल में उत्तर में तो अष्टकाल होगा दक्षिण में उदय काल होगा और पश्चिम में अर्धरात्रि होगी यहाँ अर्धदिन है वहां अर्धरात्रि होगी ऐसा बताया भाई पुराण ने कहा <coughs> समय हो गया है नहीं रखने की ओम वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलनीयानि च सर्वाणि करोमस्तु तदात्मनिरते योपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु हे मयि सन्तु ओ सन्तु